आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए भला तुम देखो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो